सह वीर करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै ॐ शांति शान्ति पूर्वार्थ महानुभाव इस कक्षा में हम विवेक वैराग्य अभ्यास इसके ऊपर चर्चा करेंगे कक्षा में पहले जो मंत्र बोलते हैं ये प्रत्येक कक्षा में हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम इसका अर्थ थोड़ा विचार करते हैं फिर आगे हम विषय पर चर्चा करेंगे अभी जो मंत्र हमने पाठ किया है उपनिषद का पहला वाक्य है सहना ववतु जो थोड़ा भी संस्कृत जानते हैं वो तो समझते होंगे सह नौ अवतु सह का अर्थ होता है साथ साथ नौ का अर्थ होता है हम दोनों की अवतु का अर्थ होता है रक्षा कीजिए तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम है आप सभी जानते हैं तो परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं कि समान रूप से हम दोनों की रक्षा कीजिए हम दोनों कौन है अध्यापक और अध्येता प्राचीन परंपरा में गुरुकुल में विद्यार्थी जाता है विद्यार्थी और गुरु गुरु शिष्य दोनों मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हे ईश्वर आप हम दोनों की समान रूप से रक्षा कीजिए संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा हर शब्द में आपको संस्कृत में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ रहता है विद्यार्थी को हम एक नाम देते छात्र तो छात्र क्यों कहते हैं उसको कैसे जैसे अब धूप लगे होते वर्षा हो तो छाता लेकर चलते इससे क्या लाभ होता है धूप से बचते हैं वर्षा से बचते हैं ऐसे ही छात्र जो है वो गुरु की रक्षा करता है और गुरु छात्र की रक्षा करता है अब जब ये पाठ करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम गुरु शिष्य दोनों आपसे प्रार्थना कर रहे हैं हमारी समान रूप से रक्षा कीजिए सहना ववतु संधि के नियम से सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वही अर्थ है साथ साथ समान रूप से नौ हम दोनों को भुनक्तु का अर्थ होता है पालन कीजिए एक अर्थ होता है खाने के लिए भी होता है लेकिन इसमें भिनक्तु नहीं होता है वहां आत्मन पद हो जाता है तो भिनक्तु ये परस्मी पद है इसका अर्थ होगा पालन कीजिए तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कैसे पालन कीजिए समान रूप से आप देखते हैं आपको जो अध्यापक लोग आचार्य लोग विद्यादान करते हैं वो आपके साथ ही बैठकर भोजन करते हैं आपके साथ यज्ञशाला में बैठते हैं समान रूप से हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य समान रूप से भोग करते हैं तुल्यता तो रहती है एक साथ एक समान कोई रोगी हो जाए किसी को अधिक आ सकता है किसी को कम आ सकता है वो अलग बात है लेकिन गुरुकुलीय परंपरा वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य का भोजन बराबर होता है निवास बराबर होता है वस्त्र बराबर होता है हमारे आचार्य लोग देखते हैं वही वस्त्र पहनते हैं जो विद्यार्थी पहनते हैं वही वस्त्र वही भोजन वही निवास गुरु का और शिष्य का तुल्य रहता है मंत्र में यही हमने प्रार्थना की सहनऊ भुना तू समान रूप से हम दोनों का पालन कीजिए सहना सहना सहनाभुनते सह वीरियम करवाव है जब गुरु शिष्य ऐसे समान रूप से होते हैं गुरु भी शिष्य के लिए और शिष्य भी गुरु के लिए दोनों एक दूसरे के लिए उद्यम करते हैं तो क्या होता है आगे कहते हैं सहवीलन करवान है पहले जो दो वाक्य थे उसमें हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे और ये जो तीसरा वाक्य है सहवीर्यम करवा है ये हम आपस में गुरु शिष्य बात करते हैं हम दोनों समान रूप से वीर्यवान हो गए समान रूप से हम बलवान हो गए समान रूप से हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य वृद्धि हो तुल्य रूप में हो गुरु की शक्ति सामर्थ्य शिष्य वृद्धि करता है और शिष्य की शक्ति सामर्थ्य ज्ञान विज्ञान गुरु वृद्धि करते हैं तो गुरु शिष्य समान रूप से एक दूसरे की वीर्य को बल को विद्या को वृद्धि करते हैं इसको कहते हैं सहवीर करवाव हई चौथा वाक्य है तेजस्वी नौ अदितम अस्तु नौ का अर्थ हम दोनों का हम दोनों ने जो इस विद्या का अर्जन किया इस विद्या को जो हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं ये विद्या तेजस्वी होवे तेजस्वी नौ अधितम अस्तु हमारा पढ़ा हुआ पाठ हमारी पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो आगे आगे ये बढ़ता जाए हमने अपने गुरु से आचार्य से पढ़ा लिखा सीखा जाना उसको अपने तक हम सीमित नहीं रखते हम आप तक पहुंचाते हैं और आप इस मंत्र को भी रोज पढ़ेंगे तो ये विद्या आप तक जाकर सीमित ना हो आपके आगे और आगे बढ़ता जाए इसको कहते हैं तेजस्वी नौ अधितम अस्तु अभी आप प्रधानमंत्री से योग दर्शन पढ़ रहे थे जी कहते हैं एक व्यक्ति एक शास्त्र को पढ़ता है तो पचास वर्ष के लिए सुरक्षित हो जाता है तो एक विद्यार्थी गुरुकुल में आता है कोई शास्त्र पढ़ता है चाहे व्याकरण शास्त्र पढ़ता है दर्शन शास्त्र पढ़ता है उपनिषद पढ़ता है कोई भी शास्त्र पढ़ता है तो पचास वर्ष तक वो शास्त्र सुरक्षित हो जाता है पुस्तकों तो से विद्या की वृद्धि नहीं होती है विद्या की वृद्धि तो जीवित मनुष्यों से होती है एक जीवित व्यक्ति पढ़ा हुआ वो दूसरों को पढ़ा सकता है पुस्तक में आप कितने भी लिख दीजिए दूसरों तक विद्या नहीं पहुंचती है तो ये विद्या बढ़ती जाए बढ़ती जाए तेजस्वी हो गए तेजस्वी नव अभितम अस्तु माँ विद्युषावई यहाँ उत्तम गुरु का है तो हम गुरु शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हम एक दूसरे से कभी भी द्वेष ना करें ना उद्दीफा रहे कभी भी हम द्वेष न करें शिष्य अज्ञानी होता गुरु के पास आता गुरु अनेक शिक्षा देते हैं उसको सारी बातें समझ में आ जाए कोई जरूरी नहीं है तो जो बात समझ में ना आए उसको लगता है तो कठोर नियम है ये तो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है तो द्वेष भावना उभर सकता है तो सबसे पहले पाठ से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हम एक दूसरे को दोष नहीं करेंगे ऐसे गुरु शिष्य बात न मानने पर मन में दोष उत्पन्न हो सकता है तो पहले ही हम पाठ करते हैं कि हम एक दूसरे से द्वेष ना करें और जब ये पांच कार्य हो गए सहना सहनोभिनक्तु सहवीलम करवा वही तेजस्विना वधितम अस्तु मां विद्युषा रही ये पांच कार्य हो गए तो आगे तीन बार हम प्रार्थना करते हैं ओम शांति शांति शांति तीन प्रकार की शांति आपको प्राप्त होगी तीन प्रकार की शांति क्या है आप जानते हैं और कक्षा में क्रमशः हम इसके ऊपर विचार करेंगे तो ये मंत्र हम रोज पाठ करेंगे इसलिए मैंने मंत्र के अर्थ के ऊपर कुछ विचार प्रस्तुत किया आगे हमारा विषय है विवेक वैराग्य अभ्यास तो विवेक क्या है सबसे पहला है विवेक विवेक शब्दों के ऊपर यदि हम विचार करेंगे तो ये संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने एक धातु अर्थात एक क्रियापद बनाया विचिर पृथक भावे विचिर पृथक भाव का अर्थ होता है पृथक पृथक देखना पृथक पृथक जानना पृथक का अर्थ अलग दो चीजों को अलग अलग जानना इसका नाम है विवेक और ये विवेक बहुत महत्वपूर्ण है पूरे छह साधन में हम इस विवेक के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे तो विवेक बहुत महत्वपूर्ण है आपको जीवन जीने के लिए भी इस विवेक की आवश्यकता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी विवेक की आवश्यकता है शब्द से देखेंगे तो आपको मैंने बताया को अलग अलग जानना महर्षि दयानंद जी सत्यार प्रकाश नौवे संलास में मुक्ति के साधन वर्णन करते हैं और सबसे पहला साधन मुक्ति क्या है विवेक और विवेक में क्या लिखते हैं सत्य असत्य धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य इनको ठीक ठीक जानना विवेक का अर्थ यही है दोनों को अलग अलग जानना किन दोनों को सत्य को अलग जानना असत्य को अलग जानना धर्म को अलग जानना अधर्म को अलग जानना कर्तव्य को अलग जानना अकर्तव्य को अलग जानना ऋषि तो संक्षेप में लिखते हैं ये सब जगह आप लागू कर दीजिए तो सब जगह आप देखेंगे जहां दो चीजों को हम अलग अलग देखते हैं अलग अलग जानते हैं अलग अलग समझते हैं उसको कहते हैं विवेक और इस विवेक शब्द को आपने सुना नहीं होगा क्षीर मीर का विवेक क्षीर कहते दूध को और मीर कहते पानी को जल को दूध और पानी मिला दें तो दोनों पूरा घुल मिल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा इसमें पानी कितना है दूध कितना है उसको भी जो अलग अलग देखता है उसको हम कहते विवेकी तो, तो उदाहरण में आपको सुनने में आया होगा क्षीर मीर का विवेक अंश के लिए प्रयोग करते हैं ऐसा जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो व्यक्ति खीर मीर के प्रिय दो मिले हुए पदार्थों को पृथक पृथक अलग अलग देखने में समर्थ होता है विवेक का अर्थ पृथक पृथक देखना आज इस संसार में दुनिया में आप देखेंगे बहुत विकास हो रहा है विज्ञान का विकास बहुत हो रहा है लेकिन ये विकास तो हो रहा है लेकिन ये पृथक पृथक नहीं देख पा रहे हैं किसको सुबह भी आप दर्शन में सुन रहे थे कि एक हमारा शरीर तत्व है जो बाहर सबको दिखता है जो हम सब जानते हैं और इसके अंदर एक दूसरा तत्व है इस तत्व को हम देख नहीं पाते जान नहीं पाते छू नहीं पाते सुन नहीं पाते तो उसके ऊपर विज्ञान कोई कार्य नहीं करता है तो इन दोनों तत्वों को जो पृथक पृथक देखता है वो होता है विवेक ही और जो इन दोनों तत्वों को पृथक पृथक नहीं देखता है नहीं जानता है नहीं देख पाता है नहीं जान पाता है उसको हम कहते अविवेकी संसार में बहुत सारे तत्व है चावल में कंकर मिला हुआ है जो चावल और कंकर को अलग अलग देखता है उसको हम कहेंगे विवेकी और जो अलग अलग देख नहीं पाता चावल ही समझ लेता है कंकर को भी हम उसको कहेंगे अविवेकी ये केवल आपको मोक्ष के लिए काम आता है ऐसी बात नहीं है कि विवेक आपको जीवन जीने के लिए भी पदे पदे आवश्यक है किसी विवेक को ही अलग अलग नाम से हम जानते हैं तो सांख्य दर्शनकार विवेक का बहुत महत्व वर्णन करते और उस आरंभ से लेकर अंत तक विवेक के ऊपर ही चर्चा करते हैं और ये एक सूत्र भी बना देते तीसरे अध्याय में अंत में सूत्र बना देते हैं विवेकात अशेष दुखम मृत कृतकृत्यता नेतरात नेतरात संस्कृत का श्लोक है सूत्र है विवेकात विवेकात में पंचमी है जो थोड़ा ही संस्कृत जानते हैं बहुत सरल है विवेक से क्या होता है अशेष दुख मृत सारे दुख छूट जाने पर विवेक से ही सारे दुख छूटेंगे व्यवहार में भी और साधना में भी मैं उदाहरण दे ही रहा हूं आपको आप समझते होंगे व्यवहार में कहां कहां हमको विवेक की आवश्यकता होती है और मोक्ष के लिए तो आवश्यक है साधना के लिए योगाभ्यास के लिए इसकी तो आवश्यकता बहुत अधिक है तो विवेकात अशेष दुख निवृत कृतकृत्यता बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कृत कृत्य कृत्य का अर्थ होता है कर लिया और कृत्य का अर्थ जो करने योग्य जो करने योग्य काम था वो कर लिया कृतकृत्य हो गया छोटा सा उदाहरण बताओ इस कक्षा के बाद भोजन की घंटी लगेगी भूख लगती है आपको और आप पहुंच गए भोजनालय में भोजन करके आए अब उसके बाद कोई कहेगा भोजन करो तो आप करेंगे क्या दोबारा क्यों कृतकृत्य हो गए जो करना था वो कर लिया तो फिर और दोबारा भोजन नहीं करेंगे ऐसे ही पूरे जीवन के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि जो करना था कर लिया ये स्थिति कब होगी तो कहते हैं विवेकात विवेक से अशेष दुख निवृत सारे दुख छूट जाने पर कृतकृत्यता भगवती अपनी ओर से जोड़ लीजिए कृतकृत्यता होती है नेतरात नेतरात क्योंकि तो वहां अभ्यास समाप्ति होती है तो जहां अभ्यास समाप्ति होती है उसको दोबारा दोहरा देते हैं इतरा कहते हैं दूसरा तो दूसरे किसी साधन से ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है केवल विवेक से ही आप कृतकृत्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं विवेक के अतिरिक्त और किसी साधन से आप कृतकृत्य की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये है विवेक का स्वरूप पृथक पृथक देखना अलग अलग जानना उसको व्यवहार में लाना अब इसी को ही हमारा अलग अलग शास्त्र का पूरा सांख्य दर्शन इस विवेक के ऊपर चर्चा करते हैं वो तो कहते हैं अविवेक हो तो बंधन होता है और विवेक हो तो मोक्ष होता है उनके पूरा शास्त्र विवेक के ऊपर जोर देते हैं सांख्य दर्शन जिन्होंने स्वाध्याय किया है अथवा जिन्होंने कुछ सुना है पढ़ा है आपको ज्ञान होगा कि प्रारंभ से लेकर अंत तक विवेक के ऊपर जोर देते हैं अविवेक के कारण बंधन और जब हम योग दर्शन के ऊपर चर्चा करते हैं योग दर्शन इसी अविवेक शब्द को अविद्या नाम से कहते हैं शब्द बदल गया भाव वही है जिसको सांख्य दर्शनकार अविवेक कहते हैं उसी बात को योग दर्शनकार अविद्या नाम से कहते हैं और इसके विपरीत विद्या विवेक शब्द का यानी भी प्रयोग है जैसे सांख्य दर्शन में एक सूत्र बताया कि विवेक से सारे दुख छूट जाने पर कृतकृत्यता होती है वैसे ही योग दर्शन में भी एक सूत्र है योग दर्शन से आप लोग अधिक परिचित होंगे तो योग दर्शन दूसरा अध्याय छब्बीसवा नंबर सूत्र है इस सूत्र में बताया विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय विवेक ख्याति विवेक शब्द तो आपने सुना अब उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया क्या है विवेक ख्याति विवेक अभी बताया था पृथक पृथक जानना अलग अलग जानना और ख्याति एक दूसरा शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ क्या का अर्थ है जैसा आपने जा, आप जानते हैं व्याख्यान उसमें ये ख्या शब्द है व्याख्या कहिए व्याख्यान कहिए ख्या का अर्थ होता है प्रकाश प्रकाश कर देना प्रकट कर देना बता देना जना देना तो विवेक का जब प्रकाश हो जाता है विवेक ख्याति उसको हम कहते हैं विवेक ख्याति विवेक ज्ञान हमें प्राप्त होता है आप सबको प्राप्त होता है सभी के अंदर ये विवेक उद्भुत होता है ऐसा नहीं है केवल योगियों के अंदर विवेक होता है लेकिन हमारे अंदर जो विवेक होता है और योगियों के अंदर जो विवेक होता है इसमें काल का अंतर है आपके अंदर भी दया की भावना करुणा की भावना प्रेम की भावना सत्य की भावना ये सब भावनाएं उभरती है जागती है लेकिन इसके विपरीत भी कभी कभी सकती हो नहीं सकती है केवल हम विवेक में रहते हैं या अविवेक में भी आते हैं विवेक में भी रहते हैं अविवेक में भी आते हैं अविवेक भी हमारे अंदर उद्भुत हो जाते हैं लेकिन जो अंतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं तो ऐसे जो योगी होते हैं वो किस स्थिति में रहते हैं कहते अविप्लवा विवेक ख्याति उनकी विवेक ख्याति कभी टिकती नहीं उनकी विवेक ख्याति कभी गिरती नहीं है चीत नहीं होती है हमेशा बनी रहती है हमारे अंदर भी विवेक ख्याति आती है हम भी विवेक से युक्त होकर व्यवहार करते हैं विचार करते हैं बोलते हैं लेकिन हमारी विवेक ख्याति हमेशा नहीं रहती है कभी आती है कभी चली जाती है कभी ऊंची स्थिति में रहते हैं हम कभी ऊंची स्थिति में रहते हैं लेकिन योगी जो होते हैं वो हमेशा उस विवेक की स्थिति में लगातार रहते हैं तो वो इसके बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं और आप सभी इस ध्यान साधना शिविर में आए हैं इस शिविर में आने का मुख्य उद्देश्य है हमारा विवेक का स्तर बढ़े हमारा विवेक का स्तर ऊंचा हो हम अपने विवेक स्थिति में जितने समय दिन में रहते हैं उससे अधिक समय विवेक की स्थिति में रहे यहाँ रहते हुए तो आप प्रयास करेंगे ही और यहाँ दिन भर आपको प्रशिक्षक लोग गुरुजन आचार्य लोग बताते रहते हैं यहाँ तो आपका विवेक का स्तर ऊंचा रहेगा लेकिन इसके बाद भी हम जब यहाँ से प्रस्थान करके अपने व्यस्त दिनचर्य में जाए वहां भी हमारी विवेक की स्थिति बनी रहे इस उद्देश्य को लेकर हम सब यहाँ पर आए हैं इसी बात को योग दर्शनकार कहते हैं हमारी विवेक ख्याति की स्थिति विवेक ख्याति कितने समय तक हम प्राप्त कर पाते हैं उसको बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वहां तक पहुंचाना है जहां हमारे विवेक ख्याति गिरे नहीं और विप्लव हो जाए विप्लव का अर्थ च्यूत हो जाना गिर जाना हट जाना दूर हो जाना और अविप्लव जब चूप न हो एकदम इसी में स्थिर है सुबह से लेकर रात्रि तक पूरे दिन भर हम उसी विवेक ख्याति में रहे ऐसी स्थिति में जो रहता है उसका पूरा अगला जन्म नहीं होता है मोक्ष होता है अब कहो ये तो बहुत वो लंबी बात है बहुत ऊंची स्थिति है कब प्राप्त हो जाए तो कोई बात नहीं आप दिन में जितना समय में विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे उतने समय तक आपको सुख मिलेगा सुबह हमारे प्रवाह जी आपको बड़े सरल शब्दों से बता रहे थे लाभ क्या होगा जब आप योग करेंगे लाभ क्या होगा और योग में योग ख्याति की स्थिति रहती है और इसके अतिरिक्त जब हम योगाभ्यास नहीं करते ध्यान नहीं करते उस समय अविवेक की स्थिति में रहते हैं तो योग में विवेक ख्याति की स्थिति होती है इसलिए यहां हमको सुख प्राप्त होता है तो ये योग दर्शन का कहते हैं कि विवेक ख्याति से विवेक ख्याति जब अविपला रह जाए तब मोक्ष होता है और जितने देर तक आप विवेक ख्याति में रहते हैं तब तक आपको आनंद मिलता है उस समय हमारा भोग नहीं होता है जब हम अविवेक की स्थिति में रहते हैं तब हमारा भोग होता है तो भोग और अपवर्ग अपवर्ग का अर्थ था मोक्ष अपवर्ग का अर्थ था मुक्ति तो जितने समय हम विवेक ख्याति में रहते हैं उस समय मुक्ति जैसे स्थिति में रहते हैं जिसका जैसा स्तर है उसको उसी स्तर का अनुभव होता है और जैसे उस विवेक ख्याति से अविवेक में आते हैं तो कहते हैं ऋषि लोग तो दुख का कारण अविवेक है अविद्या है तो तो प्राप्त होना ही है तो योग दर्शनकार ऐसे कहते हैं कि विवेक ख्याति से सारे दुख छूट जाते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं यही बात सांख्य दर्शन में कहें वैशेषिक दर्शनकार छह पदार्थ गिनाते हैं छह पदार्थ में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाद और वो कहते हैं इन छह पदार्थों का साधर्म्य और वैधर्म्य से जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है वो व्यक्ति निश्रेष अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वहां विवेक के लिए तत्व ज्ञान शब्द है और मोक्ष अथवा अपवर के लिए निश्रेष शब्द है बात वही है तत्व ज्ञान नाम से कहते हैं तत्व ज्ञान से हम निश्रेष को प्राप्त करते हैं तो वहां विद्या अविद्या की चर्चा भी वहां पर हुई है तो धीरे धीरे हम उसके बारे में विचार करेंगे वहां विवेक के स्थान पर विद्या शब्द रखा है और अविवेक के स्थान पर अविद्या शब्द रखा है और मुक्ति के लिए निश्रेष शब्द का प्रयोग किया है जैसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन ये परस्पर पूरक शास्त्र है ऐसे वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ये पूरक शास्त्र है न्याय दर्शन में भी तत्व ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है और तत्व ज्ञान से ही निश्रेयस होता है उनका कथन है उनमें सोलह पदार्थों को गिनाया प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवैध तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हत्यावास छल जाति निग्रह स्थान इन सोलह पदार्थों को जो व्यक्ति ठीक ठीक जानता है प्रयोग करता है वो उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है पहले तो हम सोचते थे जब सिंह मैंने पढ़ा नहीं था तो मैं सोचता ये तर्क वितर्क का शास्त्र होगा क्योंकि न्याय का अर्थ होता है जैसे कोर्ट में जाते हैं न्याय करते वकील लोग जैसे करते वैसे ही विचार था लेकिन जब न्यायादर्शन में पढ़ा तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक शास्त्र है अध्यात्म के लिए में अति आवश्यक तो इसमें इन सोलह पदार्थों में गिनाकर कहा इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है तो सोलह पदार्थ वहां गिनाया इसकी चर्चा उसके अंदर बाद में कभी समय के अनुसार धीरे धीरे करेंगे प्रमाण प्रमेय इनकी चर्चा तो करेंगे ही अन्य विषयों की चर्चा बाद में कभी देखेंगे ये योग दर्शन सांख्य दर्शन वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन कहता है ये संपूर्ण संसार में ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है ईश्वर ही इसका पालन करता है और ईश्वर ही इस संसार का अंत में प्रलय करता है उस ईश्वर की प्राप्ति होने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वहां भी यही चर्चा होती है कि तत्वज्ञान विवेक से व्यक्ति प्राप्त करता है और जिनको ईश्वर के बारे में जीवात्मा के बारे में प्रकृति के बारे में भ्रांति है किस जगत का उत्पन्न और पालन और प्रलय करने वाले जीव और प्रकृति को यदि सोचता है उसको यदि ऐसे भ्रांति है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता ऐसे वेदांत में भी इसकी चर्चा है मीमांसा दर्शन में वेद को ही प्रमाण मानते और वेद में जो कहा है उसी को वो धर्म कहते हैं और धर्म से ही विशेष विशेष का अर्थ कल्याण सबसे बड़ा कल्याण मोक्ष में होता है उसकी प्राप्ति हमें धर्म से होता है और धर्म का साधन वेद को बताते हैं कि सारे दर्शन हमारे वैदिक दर्शन है तो वैदिक दर्शन के आधार पर हम विवेक के ऊपर चर्चा करते हैं इसी को हम ज्ञान कहते हैं तत्व ज्ञान कहते हैं किसी के अलग अलग नाम है विद्या कह दे विवेक कह दे तत्वज्ञान कह दे एक ही बात है इसी के आधार पर हमारा जीवन टिका हुआ है इस विवेक का महत्व कितना है थोड़ा इसके ऊपर विचार करते हैं प्रातःकाल घंटी लग गई चार बजे और घर में आप चार बजे उठते नहीं है यहाँ चार बजे उठते ही मन में विचार आएगा अभी तो नींद पूरी नहीं हुई उठू ना उठू उठने से लाभ है या ना उठने से लाभ है क्या करना पड़ेगा विवेक विचार करना पड़ेगा आपको ज्ञान करना पड़ेगा विवेक करेंगे जो व्यक्ति विवेक लेगा वो आलस्य को त्याग करके दिनचर्या में आ जाएगा वो सुखी रहेगा और जो विवेक नहीं करेगा तो फिर आलस्य करेगा आलस्य करेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता सब जगह आप देखेंगे जीवन में दिनचर्या में पदे पदे आपको विवेक का उपयोग करना पड़ता है जो व्यक्ति विवेक का उपयोग करता है वो व्यक्ति कल्याणकारी बन जाता है और इस विवेक का जो व्यक्ति जितना अधिक उपयोग करता है वो तो उतना ही पूज्य बन जाता है महान बन जाता है चाहे व्यवहार में हो दिनचर्या में हो अथवा साधना में हो किसी भी क्षेत्र में देखिए हर जगह पर आप विचार करके अपने जीवन को चलाएंगे और विवेक के अनुसार चलेंगे आपका जीवन महान हो जाएगा आप पूज्य बन जाएंगे और हमारे जितने भी पूर्वज ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं सब विवेक के आधार पर अपने जीवन को चलाते थे इसलिए पूज्य आज तक हम उनको स्मरण करते हैं उनका जीवन महान होने का मुख्य कारण है विवेक जैसा आपका विवेक होगा वैसे ही आपका व्यवहार होगा आपने यदि विवेक किया तो ऐसे ही व्यवहार करेंगे जैसा ज्ञान वैसा कर्म ज्ञान विपरीत है तो कर्म में आपका विपरीत होगा विवेक आपका ठीक है तो आप विवेक ही जैसा आचरण करेंगे विवेक आपका नहीं है अविवेक है तो अविवेक ही जैसा आचरण करेंगे और जो अविवेक पूर्वक आचरण करता है वो तो हास्यास्पद होता है उसके साथ हंसी उड़ाते मजाक उड़ाते हैं और विवेक युक्ति के तुल्य आचरण करता है उसका सब सम्मान करते तो हमारे जीवन में हम यदि महान बनना चाहते हो श्रेष्ठ बनना चाहते हो पदे पदे हमको विवेक करना पड़ेगा ये विवेक कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे तो विवेक के लिए मुख्य रूप में महर्षि दयानंद ने उसी नॉर्मल संलास में ही एक बात बताई है कि जिस कार्य को करते समय हमारे अंदर आनंद उत्साह निर्भयता होती है वो कार्य धर्म है और जिस कार्य को करते हुए हमारे अंदर भय लज्जा शंका उत्पन्न होती है वो अधर्म है कि हमारे अंदर ही ये प्रेरणा प्राप्त होती है ये ईश्वर की ओर से प्राप्त होती है महर्षि ने ऐसा लिखा है और महर्षि ने साथ में है अगली बात जोर दी जो व्यक्ति इस आत्मा में प्राप्त प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन को चलाता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे मोक्ष तक पहुंच जाता है तो हमारे अंदर मेरा कहने का अभिप्राय है हम सब जानते हैं अधिकांश बातें तो हम जानते हैं लेकिन हम वहां पर विवेक का प्रयोग नहीं करते चुप कर बैठे हैं यदि हम विवेक का प्रयोग करें जो जितने बातें हम जानते हैं उतने में तो कर सकते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत है हम जानते नहीं है शास्त्र की बात है विद्वानों की बात है वो छोड़ दीजिए तो हम जिसको जानते हैं कम से कम वो गलतियां ना करें ये विवेक का उपयोग है विवेक का इसी प्रकार जो उपयोग करता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है इसी के ऊपर हम लंबी चर्चा करेंगे आगे के दिनों में तो विवेक का महत्व इतना है वो हमारा जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर देता है जैसा विवेक होता है वैसे ही हमारा व्यवहार होता है जैसा ज्ञान होता है वैसे हम कर्म करते हैं शुद्ध ज्ञान हो तो शुद्ध कर्म करते हैं अशुद्ध ज्ञान हो तो अशुद्ध कर्म करते हैं ये हमारे विवेक के आधार पर ही हमारा विवाह निर्भर करता है व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो अपने विवेक को बदलना पड़ेगा इसका मुख्य आधार जो है वो विवेक है तो इसलिए सबसे पहले हमारा विषय रखा है विवेक ये जो विवेक है वो जो ज्ञान है ये एक समान हमेशा नहीं रहता इसके अलग अलग स्तर है ये ही ज्ञान ये जो विवेक है कभी अवावक के रूप में रहता है अवादात्मक स्तर पर रहता है वो हमको पता ही नहीं चलता है उसको हम कहते हैं अभावात्मक ज्ञान संसार में कितने ही लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि मांसाहार पाप होता है तो मांसाहार पाप होता है उनको इस विषय में ज्ञान नहीं है ये उनका अभावात्मक ज्ञान है और हमें मांसाहार के बारे में तो पता है लेकिन और अनेक विषयों के बारे में पता नहीं है उस विषय में हमारा ज्ञान कैसा हुआ अभावात्मक ज्ञान है तो व्यवहार के विषय भी हो सकते साधना से संबंधित विषय भी हो सकते हैं चाहे वो बाह्य विषय हो चाहे वो आंतरिक विषय हो उस विषय में अभावात्मक ज्ञान ज्ञान की एक अवस्था है ज्ञान की एक अवस्था हुई अभावात्मक ज्ञान ज्ञान की दूसरी अवस्था है संशयात्मक ज्ञान मानते तो है लेकिन हमें तो पक्का पता नहीं है ऐसा ही है या वैसा ही है कुछ लोग ऐसे कहते हैं कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम पक्का नहीं कर पाते हैं तो सही क्या है गलत क्या है चाहे ईश्वर के बारे में हो चाहे जीवात्मा के बारे में हो चाहे खानदान के बारे में हो व्यवहार के बारे में हो किसी भी विषय में हो हमारा ज्ञान जब दोनों प्रकार का होता है तो हम उसको कहते हैं संशयात्मक ज्ञान ये विवेक अभावात्मक ज्ञान के स्तर पर रहता है संशयात्मक स्तर पर रहता है और तीसरा है भ्रमात्मक ज्ञान जानते हैं लेकिन बिल्कुल उल्टा ही जानते हैं उसका वास्तविक स्वरूप जैसा है उसके बिल्कुल विपरीत उसको हम कहते हैं भ्रमात्मक ज्ञान उसको हम भ्रांति कहते हैं उसी को हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं उसी को हम अविवेक कहते हैं ये ज्ञान का तीसरी अवस्था है ज्ञान की तीसरी अवस्था है और भ्रमात्मक भ्रमात्मक कहिए भ्रांति उत्पादक कहिए इस प्रकार का ज्ञान है और चौथा जो है अंतिम है उसको हम सत्य ज्ञान कहते हैं निर्णयात्मक ज्ञान कहते हैं वास्तविक ज्ञान कह देते हैं यथार्थ ज्ञान कहते हैं उसी को हम विवेक कहते हैं विवेक का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे अंदर निर्णयात्मक रूप में हो यथार्थ रूप में हो वास्तविक जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसे ही है संस्कृत में इसको कहते यथाभूतम भूत कहते स्वरूप जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही ज्ञान है तो इसको कहते हैं तत्व ज्ञान इसी को कहते हैं वास्तविक ज्ञान इसको हम कहते हैं विवेक ये ज्ञान बदलता रहता है एक बार आपको तत्व ज्ञान हो गया तो उसी तत्व ज्ञान में आप स्थिर रहेंगे ऐसी कोई निश्चितता नहीं है हमारा ज्ञान का स्तर बदलता रहता है एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको पता चलेगा जैसे कभी रिक्शा में हम जाते हैं ऑटो रिक्शा में जाते हैं कोई सामान छूट जाता है और तो रिक्शा वाला ईमानदार है तो उसके चित्त में अच्छा सात्विक स्तर बना हुआ है तो आपको बुला लेता है कहता है सामान आपका छूट गया ले लीजिए वही रिक्शा वाला कई दो रुपए के लिए खूब झगड़ा करेगा तो चित्त का स्तर क्या होता है बदलता रहता है जब हमारे चित्त में सात्विक भावना सात्विक स्तर अधिक रहता है ऊंचा रहता है विवेक उद्भुत होता है और इसी स्थिति में जब रजोगुण उभर जाए तब तो स्वार्थ की भावना उद्भुत होती है और इसी में जब तमागुण उभर जाए तो चित्त में स्वार्थ से भी गए गुजरे अधर्म अज्ञान अवैराग्य इन स्थिति में हम जाते हैं तो हमारा ज्ञान बदलता रहता है इसको एक छोटा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं आप सब आसन के ऊपर बैठे हैं कल्पना करिए आपके आसन के नीचे कोई कीड़ा है आपको पता ही नहीं है इसको कौन सा ज्ञान कहेंगे अभावात्मक ज्ञान है कीड़ा तो है लेकिन उसको उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है ये अभावात्मक ज्ञान है और कीड़ा जब है थोड़ा सा चुभने लगता है बड़े बड़े आकार का बड़ी आकार का कीड़ा हो तो आपको चुभने लग जाए है तो कीड़ा लेकिन आपने मान लिया कोई पत्थर होगा तो ये कौन सा ज्ञान होगा भ्रमात्मक ज्ञान विपरीत ज्ञान उल्टा ज्ञान और जब कीड़ा थोड़ा हिलने लग जाए तो आपको संशय हो जाएगा कि पत्थर है कीड़ा है अपक्का पक्का नहीं है तो इसको कहेंगे संशयात्मक ज्ञान और जब ज्यादा हिलने लगे तो आपने आसन हटाया और देखा तो पता चल गया ये कीड़ा है ये कौन सा ज्ञान है तत्व ज्ञान है वास्तविक ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है तो ऐसे ज्ञान का स्तर जो है बदलता रहता है कभी अभावात्मक ज्ञान होता है कभी भ्रमात्मक ज्ञान होता है कभी संसात्मक ज्ञान होता है और कभी निर्णयात्मक ज्ञान होता है निम्नात्मक ज्ञान से ही हमारा व्यवहार बदल सकता है हम कल्याण मार्ग के पथिक बन सकते हैं इसके लिए हमको निर्णयात्मक ज्ञान चाहिए ये ज्ञान की अवस्थाएं ये ज्ञान ये विवेक हमको कहां से प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त करने का प्रकार स्रोत क्या है कैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसके बारे में आप सभी जो पुराने शिविरार्थी है जानते हैं ऋषियों ने प्रमाण बताया है प्रमाणों के ऊपर विशेष चर्चा न्याय दर्शन में है मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा समय के आधार पर तो प्रमाण क्या होता है जिसके द्वारा हम वस्तु का स्वरूप सही सही जानते हैं उसको कहते हैं प्रमाण जैसा बाजार जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं तो ये कितना तेल है तो तोलने के लिए आप क्या करते हैं तोले के ऊपर रखते हैं आजकल तो सब डिजिटल आ गया इलेक्ट्रॉनिक वेग मशीन आ गया उसी में तोल कर जान लेते पहले तोला आता था तराजू में तोलते थे तो तराजू क्या होता है प्रमाण तो जैसे तराजू से तोलकर हम वस्तु का मूल्यांकन करते हैं वास्तविक इसका मूल्य कितना है तराजू से तोलकर हम परिजान करते हैं ऐसे ही संसार में जितने भी पदार्थ है उनका परिज्ञान उनका मूल्यांकन करने के लिए ऋषियों ने हमको जो तोला दिया है तोलने के लिए तराजू दिए उसको हम कहते प्रमाण प्रमाण के द्वारा कस कर हम सत्य असत्य धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान करते हैं इसी को हम विवेक कहते हैं तो विवेक के लिए हमें प्रमाण चाहिए प्रमाणों के द्वारा हम विवेक प्राप्त करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं तो प्रमाण कितने प्रकार है योग दर्शन आप पढ़ रहे हैं इसमें आपको मान्य आचार्य जी बताएंगे तीन प्रकार के प्रमाण मानेंगे ही प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण ये बहुत प्रसिद्ध है आप लोगों ने भी सुना होगा स्वाध्याय में जानते होंगे आप तो ये तीन प्रमाण इसमें बताए गए सांख्य में भी ऐसे तीन प्रमाण की चर्चा है अन्य शास्त्र में भी है और न्याय दर्शनकार उसके साथ और एक प्रमाण जोड़ देते हैं उपमान प्रमाण सभी प्रमाणों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे संक्षेप में और ये जो प्रमाण होते हैं इनके द्वारा हमको ज्ञान होता है तो इसके अतिरिक्त कुछ प्रमाण हैं जो ज्ञान करवाने में सहायक होते हैं लेकिन इन चार प्रमाणों के अंतर्गत सभी आ जाते हैं तो इसलिए कुल आठ प्रमाणों की चर्चा आपको न्याय में मिलेगी सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने प्रकट किया है दो जगह पर इसका वर्णन किया है तो ये आठ प्रमाण और उसको संक्षेप करें तो चार प्रमाण चार प्रमाण की चर्चा थोड़ा थोड़ा विचार करते प्रत्यक्ष प्रमाण जितने भी प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा बलवान है जितने प्रमाण है संसार में सबसे बड़ा बलवान है और प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर व्यक्ति को जितना विश्वास होता है उतना अनुमान शब्द आदि प्रमाण के ऊपर विश्वास नहीं होता है जैसे कल्पना कीजिए आज आप जाकर भोजन करेंगे और भोजन करते समय आपने चक्कर देखा बहुत ही नम, नमकीन है नमकीन लग रहा है और मैं कह दू ये तो बहुत मीठा है तो आप मेरी बात मान लेंगे क्या मेरा जो कहना है वो आपके लिए शब्द प्रमाण है और आपका जो अनुवाद है वो क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण है तो प्रत्यक्ष करने के बाद जब उसके विपरीत कोई अनुमान प्रमाण आए उसके विपरीत कोई शब्द प्रमाण आए तो उसको हम स्वीकार नहीं करते प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा बलवान है लेकिन न्याय दर्शन ऐसा शास्त्र है इतना सूक्ष्मता इतनी सूक्ष्मता इसके अंदर है पढ़ेंगे तो आप कभी गदगद हो जाएंगे तो कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण में भी आपको लगता तो है प्रत्यक्ष है लेकिन उसमें भी गलती हो सकती है जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको रास्ते में जा रहा हूं अजमेर ये राजस्थान में है रेगिस्तान में आप चलते हैं रेत के ढेर है अथवा पक्के रास्ते आप देखेंगे सूर्य का किरण जब प्रचंड होता है आपको लगेगा कि आप पानी है लगता है नहीं लगता है जिसको मृग तृष्णा कहते हैं मृग मरीचिका कहते हैं आपको ऐसे दिखता है नहीं लगता सबका अनुभव होगा रास्ते में चलते जहां बहुत अधिक गर्मी होती है तो सूर्य के किरण जब भूमि के साथ संस्पर्श होकर और प्रतिबिंबित होता है प्रतिफलित होता है तो वहां इतना चमक होता है पानी जैसे दिखाई देता है रोड में पानी हो तो भी आपको पानी जैसे दिखाई देता है और रोड में पानी ना हो लेकिन धूप इतनी तेज है तब भी पानी जैसे दिखाई दे रहा है इससे आप ये नहीं कह सकते मैंने अपने आंखों से देख कर आया आप अपने आंखों से देखने से भी आपको भ्रांति हो सकती है तो महर्षि गौतम जी बहुत सूक्ष्म दर्शी थे तो कहते प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो लेकिन इस प्रत्यक्ष में ऐसा दोष नहीं होना चाहिए सूत्र महर्षि ने संग सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है और आप में सब विकास जानते हुए है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यविचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम कहते अव्यपदेश आप जा रहे हैं तो मैंने कहा आज बहुत ठंडा पानी है ठंडा पानी आप छूकर देखने से भी आपको ठंडा का अनुभव होता है और मेरे मुंह से सुनने से भी आपको ठंडा का अनुभव होता है तो ठंडा को छूकर देखने से आपको जैसा ज्ञान होता है मैंने कहा आज भी ठंडा ऐसा ही है कल जितना ठंडा था तो भी आपको ज्ञान होगा तो कहते दोनों ज्ञान में अंतर है यदि आप शब्दों से सुनकर आपको ज्ञान हुआ उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे जो सुनकर ज्ञान ना हो अपनी इंद्रियों से हो दूसरी बात है किसमें अव्यपदेश और व्यविचार व्यविचार का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार पानी होने पर भी पानी दिखता है पानी ना होने पर भी दिखता है तो ये जो दोनों प्रकार हो गया व्यविचार हो गया तो ऐसे व्यविचारी ज्ञान नहीं होना चाहिए और तीसरा कहा व्यवसायत्मक दूर से आप देख रहे हैं कोई लाल कपड़ा पहना हुआ है तो आपने सोच ये तो हमारे गुरुकुल के सन्यासी है पास में जाकर देखा तो कोई अलग आदमी है हमसे सन्यासी है तो वो कैसा जवाब है पक्का नहीं हुआ व्यवसाय नहीं हुआ दूर से देख रहे आपको धुआं धुआं दिख रहा है लेकिन वह धुआं भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है दूर से देखने से पता नहीं चलता है दूर से देख रहे हैं कम प्रकाश है फूट दिख रहा है मनुष्य जैसे लग रहा है तो उसमें आपको भ्रांति हो सकती है तो ये नहीं कह सकते मैंने आंखों से देखा इसमें यही सत्य है उसमें भी ये तीन दोष हो सकते हैं इसलिए महर्षि गौतम जी ने कहा और उपदेश और और दोषात्मक ज्ञान हो तब जाकर हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे नहीं तो उसको प्रत्यक्ष ही नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण आप सब जानते जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण ये बाह्य विषयों के बारे में लागू होता है सांख्य दर्शनकार कहते हैं कि जैसे बाहर के विषयों के बारे में आप प्रत्यक्ष करते हैं ऐसे आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है उसमें आत्मा और मन का विशेष संयोग होता है और वहां समाधि अवस्था में हमको जो ज्ञान होता है वो आंतरिक प्रत्यक्ष है बाह्य प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा आंतरिक प्रत्यक्ष मन आदि अंतकरण के द्वारा आत्मा को जो ज्ञान होता है उसको हम आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण आप रोज प्रयोग करते इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आंतरिक प्रत्यक्ष के बारे में आपको धीरे धीरे उपासना और योग की कक्षा में आपको बताए जाएंगे आगे है अनुमान प्रमाण अनुमान अनुमान में एक प्रमाण है और अनुमान प्रमाण से हमको बहुत सारा ज्ञान होता है जो कभी यहां पर ऋषि उद्यान में नहीं आया पहली बार आए तो पहले आपने किसी से सुना होगा कि भाई अजमेर में ऐसा एक ऋषि उद्यान है ऐसे है ऐसे शिविर लगता है इसके जानकर आपके मन में जो जो कल्पनाएं हुई है उसके आधार पर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो आपका अनुमानित ज्ञान है किसी चीज का आपने प्रत्यक्ष किया है और उसको जब जब दूसरा कुछ एक भाग देखकर दूसरा जानते हैं उसको हम अनुमान कहते हैं यहाँ तो आपने पहली बार शिविर पहली बार शिविर कर रहे हैं दूसरे कहीं पर शिविर किया था उसके आधार पर आपने यहाँ का सूर्य का अनुमान करते हैं आज का सूर्योदय तो आपका प्रत्यक्ष है कल सूर्योदय होगा नहीं होगा इसके बारे में आप अनुमान करेंगे तो अनुमान प्रमाण भी सत्य होता है ऋषि लोग कहते हैं जो भी प्रमाण है वो सौ प्रतिशत सत्य होता है अनुमान करने वाले की गलती हो सकती है लेकिन अनुमान प्रमाण है तो कभी गलत नहीं होता अनुमान प्रमाण भी सत्य ही होता है किसी व्यक्ति को आपने पहले यज्ञशाला में देखा था और उसी व्यक्ति को आपने यहां पर देखा तो पैदल चलकर आया आपने देखा नहीं लेकिन आपको लगता है ना कि पहले यज्ञशाला में था अब यहां बैठा है तो इसका मतलब वो गति करके आया होगा ये कौन सा प्रमाण है अनुमान प्रमाण है जहां एक भाग को देखकर हम दूसरे भाग का अनुमान जानते हैं ज्ञान करते हैं उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं हाथी का सूंड देख रहे हैं पूरे हाथी को नहीं देख पा रहे हैं इन सूर्य को देखकर उसको जानते हैं तो ये अनुमान प्रमाण है तो अनुमान प्रमाण भी बहुत काम का है और उसके आधार पर हमारा बहुत सारा व्यवहार होता है उसी के आधार पर हम बहुत सारा व्यवहार भी करते हैं तीसरा है शब्द प्रमाण महर्षि गौतम जी और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि शब्द प्रमाण जो आपदेश है शब्द आप्त का अर्थ आप लोग तो जानते होंगे मैं इसको एक चालू भाषा में कहता हूं प्राप्त जिन्होंने प्राप्त किया और उसी को बता रहे थे उस विषय में आप थे घड़ा कैसा बनाया जाए उसके बारे में कुमार जो है वो आप थे रोटी कैसे पकाई जाती है जो रोटी पकाना जानती माताएं जानती है तो उस विषय में आप थे जिस विषय को किसी ने जाना है प्रत्यक्ष से हो अनुमान से हो उस विषय में वो आप थे और वो व्यक्ति जब दूसरों को बताता है दूसरे के लिए वो प्रमाण जो होता है उसको हम कहते हैं आप तो प्रमाण मेरा प्रत्यक्ष है अथवा मेरा अनुमान है उसी विषय को मैं आपको बताता हूं आपके लिए वो शब्द प्रमाण हो जाएगा ऋषि लोग समाधि अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार करके भौतिक पदार्थों का और अभौतिक पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं और उसी विषय को वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं उसको हम आर्ष प्रमाण कहते हैं उसको हम आत्म प्रमाण कहते हैं वो ऋषियों का प्रमाण है ऋषि जो भी कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं इसलिए उनका प्रमाण जो है पूर्ण प्रामाणिक है और वो सामान्य मनुष्य है वो कभी झूठ भी बोल देते हैं कभी सत्य भी बोलते हैं इसलिए हमारा पूरा पूरा विश्वास नहीं होता है तो ऋषि लोग कहते हैं जो पूर्ण रूप से सत्य ही बोलता है सत्य ही व्यवहार करता है सत्य ही विचार करता है सब कुछ जानता है मानता है वो व्यक्ति देवता बन जाता है या आप्त बन जाता है देवता बनने का एक उपाय होता है सत्यम वही देवा अमृता मनुष्य मनुष्य लोग तो झूठ भी बोलते हैं लेकिन देवता होना है तो सत्य का आचरण करना है तो ऋषि ऋषि लोग हमेशा पूर्ण सत्यवादी होते थे इसलिए उनके कथन उनका ग्रंथ उनके वचन उनके व्यवहार हम आप तो प्रमाण मानते हैं शब्द प्रमाण मानते हैं ये तीन प्रमाण हो गए अब समय पूरा हो चुका है आज कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं आगे की चर्चा हम कल इस समय करेंगे इतम शाम